की बात जब जीव अपने की जीव भाव को छोड़े अपने साक्षी को आत्मा को पहचाने तक कह सकता है कि हाँ ये आत्मा और परमात्मा एक है वहां से एकत्र हो सकता है जीव भाव में परमात्मा में एकत्र नहीं इसलिए ज्ञानी की दृष्टि यह है कि जो व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक है हम्म, ब्रह्मात्मा से भाव है वहां ज्ञान में लेकिन यहाँ पर ईश्वर जीव में जो है वो वहां इस प्रकार की एकता नहीं है एक के साथ में समस्त की उपाधि है और दूसरे के साथ व्यस्त की उपाधि है जीव की व्यस्त की उपाधि परीक्षण है ईश्वर के साथ समस्त की उपाधि है इसलिए वो सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है ये दोनों में अंतर है तो जब अंश कहा जाता है तो भी ईश्वर अंश जीव अविनाश अंश जो है वो जीव जो ईश्वर का अंश है अब जीव को कोई ब्रह्म का अंश नहीं कहते जीव जो है ईश्वर का अंश है क्योंकि ईश्वर की जो समस्त उपाधि है उसी की एक उपाधि छोटी उसी उपाधि का एक टुकड़ा जीव की उपाधि है तो उपाधियों में से संबंध है लेकिन दोनों में जाति जो परमात्मा चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य की है वही ईश्वर में है वही जीव में है उन दोनों और दोनों अखंड है तो दोनों अखंड कम एक ही है तो दो, अखंड रत्न हो नहीं सकते इसलिए वो परमात्मा जो चेतन स्वरूप होकर के ईश्वर जीव में दोनों में विद्यमान है वो एक अखंड तत्व परमात्मा ऐसे करके इस भाव को करके अब देखो कि उनके ये जो बहस जब चलती है तब कहाँ पर कौन पक्ष लेकर के किस प्रकार विचार करते हैं भैया इसके मैंने ये भी है कि ये जो कार्यशील जी जो उनसे भगवान के सगुण रूप का वर्णन पूछ रहे थे वो जरूर पूछ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं कि जानते नहीं थे कि निर्गुण ब्रह्म क्या है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान इनको भी है और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लोगों को इसको भी है और लोगों उसमें सनातन को भी और उनके गुणों की और उनकी गाथाओं को भी जानते हैं और ये भी जानते हैं दोनों को निर्गुण सबों का दोनों को ज्ञान है और दोनों को निर्गुण सबों का <clears throat> उसका ज्ञान होते हुए भी एक का पक्ष निर्गुण की तरफ अधिक जुटा हुआ है और दूसरे पक्ष सगुण की तरफ जुटा हुआ है बस अंतर इतना है और कुछ नहीं ऐसा नहीं कि ये जो वित्त जो है ये है <clears throat> ये नहीं जानते निर्गुण प्रमुख को नहीं जानते जानते ये भी नहीं जानते हैं तो ये कैसे बता दिया कि क्रोध की गलत दोष बुद्धि देने गलत के बिना अज्ञान ये तो कैसे समझ में आने ध्यान तो हो गया तो कभी कभी इस प्रकार का नहीं होता है कि अद्वैत ज्ञान होते हुए भी जो स्थिति आते हैं जिनको देखो अद्वैत ज्ञान नहीं अद्वैत ज्ञान इनको भी अद्वैत ज्ञान नहीं होते सब से लिखते जाएंगे इनको तो ये शब्दों से वर्णन किया उनके फला मिल जाना अनूपा इत्यादि अगर इनको निर्गुण धर्म का ज्ञान न हो तो सब सबको वर्णन करो तो सीधा के ज्ञान लेकिन किसी का से सत्य पालन करते हुए भी सगुण ब्रह्म उनकी भक्ति नाम उपासना मन की हम यही थी उनको इसलिए कहा कि दोनों में सबसे अच्छा यही है कि सगुण ब्रह्म की आराधना करें हमें तो सगुण ब्रह्म भगवान राम का सुंदर रूप अच्छा लगता है हमें तो उनकी लीलाएं अच्छी लगती हैं हमें दोनों तो का चिंतन अच्छा लगता है बस भाव उसी में सगुण में सगुण में उनकी बुद्धि लगी हुई है ऐसे इनकी अब इसके माने ये कहेंगे एक प्रकार के लोग तुलसीदास जी कहेंगे सिंह के पक्ष के हैं उन्हीं को जो भाव तुलसीदास जी का है वही भाव कालभूषण जी का पिछले जन्म में जब जिस रूप में थे तो उस समय उनका वही भाव था तो मानो ऐसा समझ लो तुलसीदास जी स्वयं बहुत कर रहे हैं दोनों कृषि से एक उसे जाने दे कृषि और जो उसका जिस प्रकार का जो परिणाम निकलेगा वो आगे देखते दिखाते हैं जैसे आगे देखें कि करों के दुख सब कहे के दरिद्र पर मन जाते पर दोहित होने शंका कामी पुनित रही पंच गिरह कर्म की होनी स्वरूप ही पीने ताहु समुद्र के खेतल जानी सुभगति पावत पर प्रियगामी भवती पति परम आत्मा निंदक सुखी की हो ही तब हम हरिनंदक राज की राय तुझी जानी बपाने पामन जस के गुण होई दिन अगो जस के पावे कोई लाभ की कुछ हर भगत समाना गावन सुख संत पुराणा अनुज जगे समुख भाई भगवान राम नरतन पाई अब किसमता समुख आना धर्म की दया पर उसे हरि जाना उपदेश आदर सुनऊ पुन पुन सगुन तक्षण रोका तब मुन बोले वचन सकोपा मोर परम सुख देव उत्तर प्रति उत्तर बहुवानसी सत्य वचन विश्वास करही पाओ से सदही गई

रघुवंश मणि हर्ष चले आए करत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखन जगत चेतन करह विरोध विरोध सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब दिखाते हैं कालभूषण जी कहते हैं कि देखो लोग देश को अपना ज्ञान बोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं सब उपनिषद सुनाए चले जा रहे हैं तरह तरह के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर उनसे शरीर के परिप्राप्त में आया कोष का विवेक बताते चले जा रहे हैं पिता का विवेक सुनाते चले जा रहे हैं ये सब बोलते चले जा रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं उसके बीच में ये अपनी दूसरी बातें मन में सोच रहे हैं जैसे सत्संग चला चल रहा हो और कोई अखबार पर बच्चा है कि इलेक्शन होने वाला है तो सोचे कि लक्षण में फिर कहाँ कम खड़ा हो रहा है मन पता चल रही है अपने मन में सोच रहे कौन लक्षण में कहाँ खड़ा हुआ है वो जीतेगा नहीं हारेगा कि नहीं हारेगा हमारे क्षेत्र से कौन खड़ा बनाए अब देखो उनका बुद्धि अपने माँ उसे लगी हुई है तो ऐसे करके होता है सुनने के तो ये बड़े होता है जो कथा चल रही है तो उसको सब पूरा पूरा सुनने के लिए हैं दूसरी दूसरी बातें मन आपके आती हम जिसको आगे चल करके कहते हैं कि देखो एक कथा को तो आदरपूर्वक सुनना है और एक निरादरपूर्वक सुनना है मैंने जबरदस्ती करके बैठा दिया गया तो बिना आदर भाव के बेमन बैठे हुए हैं विभिन्न बैठे हुए सूचना कुछ नहीं रहे अपने मन की बातें जहाँ कहा की बातें अपने बोल रहे हम्म। परिणाम हुआ कि जितनी देर सत्संग में जो चर्चा चली मान लो ज्ञान की चर्चा चली मान लो चर्चा चली कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध दुर्गुण है अज्ञानियों का लक्षण है ये सब तो सत्संग में चर्चा चली और जैसे बाहर निकले बाहर गए तो तुरंत क्रोध आ गया तुरंत कोई जगह के साथ निंदा स्थित करने लगे इसके मैंने जो सत्संग हो रहा था उस समय सुनेंगे नहीं कि क्रोध दुर्गुण है गुण होता है उसकी तरफ जाने नहीं है लेकिन इसके लिए थोड़ी सफाई हो जाए मुझे बाहर जाते जाते जो है कुछ देर तक टिका रहेगा बार बार कहेंगे भाई अहंकार न करो अहंकार न करो युद्ध चल रहा कथा और बाहर जाते तो अहंकार दिखाने तो फिर क्या कथा सुनी इसके मैंने कथा सुनते समय वो कुछ और ही सोचता रहा जो चर्चा चलती रही वो सुनी नहीं ऐसा होता रहता है ऐसे करके यहाँ दिखा दिया या करके बार बार क्योंकि वो अपनी कथा सुनाई चले जा रहे हैं निर्गुण करने की हम अपने और ही सोच रहे हैं जैसे उसमें क्रोध की तो जब द्वैत बुद्धि भी बिना द्वैत बुद्धि के कैसे क्रोध आएगा ये अपने ऐसे सोच रहे थे तो। ऐसे फिर इसके के बाद एक मन जो वो अब देखो मन कैसे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कैसे भागता है इस मन का स्वभाव ही पता चलता है तो देखो क्योंकि उनको क्रोध आ गया था लोगों से इसको इसलिए क्रोध क्रोध के ऊपर चले विचार करने लगे और जब पेट के ऊपर विचार किया तब पेट की बात आ गई हाँ? जब पेट की बात आ गई तो ईश्वर और जीव का पेट कैसा होता वो याद आ गया उनको अब देखो कैसे इसके बाद एक एक शाखा के बाद दूसरी शाखा पर कैसे मन जाता अब जब उधर की कर लिया तब फिर उसका बहुत के सब कर रहे थे जाके अब उधर की तरफ ध्यान चला गया कि जब व्यक्ति जो व्यक्ति सबका हित करने में लगा रहता है उसको कभी दुख नहीं हो सकता ये सबका हित का है वो कभी दुखी है अध्यात्म साथ एक ऐसा है जो सबके हित में लगा हुआ है वो कभी दुखी नहीं रह सकता सबके हित में समाज सेवा में लगा रहे लोक कल्याण के कार्य में लगा रहे सबकी सहायता करे सबको उद्धार करे सबके प्रेम रखे ऐसा करेगा तो उसका परिणाम ये होगा उसे कभी दुख नहीं होगा अब ये तो ऐसे सूत्र है जो कभी जैसे कोई सहायता करे जैसे क्या आप लगे दूसरे के सुख में सहायता है तो हमें सुख तो कैसे प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति अनजानी व्यक्ति को नहीं समझ में आगे से लगेगा जब दूसरे लोग हमको बहुत सब कुछ हमें दे दें खाने पीने के लिए बहुत सामग्री इत्यादि दे दें कहीं कम सुखी होंगे लगे लगे हो जाएंगे लेकिन अध्यात्म विद्या करके देखना इस बात की चिंता न करो उनका सबसे भ्रष्ट हो जाए उनको बल्कि अन्य लोगों की सेवा में लग जाओ सबकी सहायता करो सबका हिस्सा हो तो तुम देखोगे तो तुम उसके बाद से परमानंद को प्राप्त कर लोगे तो ये बात देखते नहीं व्यक्ति तो करके देखो तो कहते कभी भी दुख परिचित सब कर ये जैसे ये ये वैसे दूसरी जगह तो वो गए कहते कि जो परिहित बस जन के मन माही इनका जग दुर्लभ कठिनाही एक वो वैसे बांधिए मैंने जिसके मन में ये बताओ दूसरे का ही कैसे करें मन जिला की सोचता है कितना कैद करें किसकी कैसे सेवा करें किसकी सेवा करें ये सोचता है ये भी सोचता है मुझे क्या मिल जाए मुझे क्या फूल क्या दे दे मुझे क्या पद मिल जाए मुझे क्या प्रशंसा मिल जाए मुझे क्या भोग सामग्री मिल जाए बस ये सोचने वाला जो तो व्यक्ति है जो अपने अपने के लिए सोचता रहेगा वो दुखी रहेगा जो दूसरे के लिए सोचता रहेगा वो सुखी हो जाएगा बहुत के दुख करे थे दुख सब करे हित साधे और एक दरिद्र पर मन जाते और कहते हैं कि दूसरा उदाहरण ऐसे कहते हैं जिसके हाथ में पारक नहीं हो वो भारत दर्दी कहाँ का ये तो ये उदाहरण समझ लो उसकी तो पहली पंक्ति है वो अध्यात्म की है और दूसरी भौतिक उदाहरण है पहले दर्दी तो वो व्यक्ति होगा जिसके के पास पैसा न हो और फिर जिसके के पास बहुत धन हो तो फिर दर्दी नहीं हुआ और कदाचित पारक मन हो मैंने वो मन ऐसी कि जिस लोहे को छुआ के वो सब सोना हो जाए ज्ञाता नहीं फिर उसको प्राप्त जितना चाहो तो सोना प्राप्त करो जितना चाहो सोना निश्चित करो जितना चाहो तुम प्राप्त करो जितना चाहो जितना रहोगे तो आदमी कहते हैं कि ये परहित जो है ये ये पारापूर्ण के समान है परोपकार में लगे रहो सेवा में लगे रहो कर देखो शिकायत रहती कि होश में और कहते हैं कि दूसरे के दूसरे से अगर कोई जोड़ रहा है तो वो निशंक नहीं रह सकता मैंने मतलब बैर भाव मतलब बहुत से शत्रु हैं हजारों लोगों से उसका बैर तो परिणाम क्या होगा वो डरता रहेगा कि कहीं वो न मिल जाए कहीं वो न मार दे कहीं वो न मार दे अब देखते हैं नेताओं लोगों के साथ में क्यों इतने जमा चलते हैं क्यों इतनी सुरक्षा लेकर के चलते हैं उनके सब दुश्मन हो जाते हैं हर किसी का निंदा करेंगे हर किसी का विरोध करेंगे हर किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो वे लोग भी सब उनको मारने के लिए इनके लिए उतारे होंगे तो वो साफ सामने दिखाई देता है तो कहते परद्रोही की हो ही निशंका निशंक में निर्भय नहीं हो सकते और पानी पुण्य की रहा में कलंका और पानी पुरुष निष्कलंक नहीं रह सकते कामना इस प्रकार की हो कामना विष्णु की कामना सभी की सत्पुरुष इनकी कामना के कारण कोई व्यक्ति अपराध कर बैठता है जितना अधर्म होता है व्यक्ति का वो इन्हीं की कामनाओं के कारण ही होता है और जब अधर्म प्रवृत्त होगा तो जो नहीं करना चाहिए वह शो किएगा जब करेगा तो उसको धर्म निंदा उसकी होगी कलंक लगेगा इसी से सिद्धांत प्रकार निष्कलंक नहीं रह सकता सतानी व्यक्ति जो निष्कलंक नहीं रह सकता सतानी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता ये सिद्धांत तो बताते हैं तो बैंक की राय जो अनहित तीन है और फिर कहते हैं बीज का अनहित करने से बैंक नहीं कर सकता उसका बैंक कर चले तो किसी का अनहित न करे किसका और कर्म की हो स्वरूप की है और ये कहते हैं कि अपने स्वरूप को चुन लें जानने तो फिर कहते हैं कि फिर कर्म भी नहीं हो सकते अब एक दूसरे के जो ये उदाहरण है और भौतिक जल उदाहरण सिद्धांत भी है आध्यात्मिक सिद्धांत में ऐसे भी हो सकते हैं और दोनों ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक जो है वो उदाहरण है और आध्यात्मिक जो सिद्धांत है ऐसे करके भी ले सकते हैं कर्म के हो शुरू पंथी है जैसे कि व्यक्ति जब कर्म करे तो कब कर्म करे सकाम कर्म तब करेगा जबकि अपने आत्मज्ञान नहीं होगा देहाभिमान होगा इंद्रिय होगा इंद्रियों में लिप्त होगा तभी सकाम कर्म करेगा कर्म करते माने कोई कर्म करने के में उसका फल क्या है ये चाहे कि हमें इसका इस कर्म का ये फल मिल जाए इस कर्म का हमें ये फल मिल जाए मुझे मान्यता मिल जाए प्रतिष्ठा मिल जाए व्यक्ति मिल जाए फल मिल जाए धन संपत्ति मिल जाए सुख वैभव मिल जाए ये सब कामना मेरा करके तब कर्म करें और यह कर्म करें तो उसके फल में ये मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति जो वो वो सदान कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो एक तो वो उनको इसकी विकास होती नहीं और दूसरी बात ये कि वो जहाँ आत्मज्ञान होगा उसमें ये नहीं हो सकता अज्ञानी व्यक्ति ये सब सोचेगा सदान कर्म का संबंध तो कर्म की हो शुरू कहीं की नहीं ये तो बात इसी प्रकार की जैसे कृष्ण गीता में जहाँ भगवान ने कह दिया कि देखो यस्तु आत्मनिर्भर आत्मतत्व मानवा आत्मनिवेश संतुष्टा तस्य कार्य न विद्युत जब आत्मज्ञान में स्थित होगा व्यक्ति को तो काम कैसे उसका काम कर्म कैसे करेगा काहू समत की खल संज्ञानी अभी कहते हैं देखो प्रसन्न करोगे तो सदबुद्धि नहीं आएगी काहू समत की खल पर खल व्यक्ति की दुष्ट व्यक्ति का वास करने से कोई सदबुद्धि नहीं आएगी दुष्ट व्यक्ति का दुष्टता की बातें मूर्खता की बातें पढ़ाए गए समस्त दुर्गुण को खाते इसलिए सिद्धांत जो कि खंड व्यक्ति और दुष्ट दुर्गम व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए उनसे दूर रहे ताहू समझ के खल संग्रामी सुगत ताहू से परिप्रियगामी और परिप्रियगामी हुआ तो उसको सदगत प्राप्त नहीं हो सकती नरक प्राप्त होगा उसको उसकी बुद्धि भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी शरीर छोड़ने के बाद भी अभिगति प्राप्त होगी और भव के परमात्मा जिंदक और कहते हैं जो परमात्मा बिंदक है परमात्मा के जिनको ज्ञान है वो क्या संसार चक्र में पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो उसी को अपने सही भाव होगा अज्ञान उसी को होगा जो अज्ञानी होगा वही संसार चक्र में पड़े संसार के में राजदेश में धीरे धीरे में कौन पड़ेगा जैसे परमात्मा का ज्ञान बहुत ही परमात्मा बिंदक और सुखी की हो ही कबो हरि निंदक और जो हरि की निंदा करने वाले भगवान की निंदा करने वाले वो कहते हुए सुखी रह सकते हैं जो भगवान की निंदा करेंगे मैंने वो अध्यात्म में तरफ उनको न ज्ञान में न भक्ति में नहीं रुच ही नहीं सकते कभी भगवान की निंदा करेंगे जब ज्ञान भक्ति कुछ उनको होगा नहीं इसके माने मेरी भौतिकता में राजदेश में इंद्रिय भोगों में सांसारिकता के चक्र में पड़े रहेंगे तो, तो दुखी तो रहेंगे संसार के माने दुख संसार के सुख का लक्षण है संसार माने दुख भक्ति में पड़े रहेंगे तो वो भी राज्य की रहाई नीत बिन जाने इसी प्रकार से कहते हैं कि राज्य किसी व्यक्ति का राजा राजा हो गया लेकिन नीति जानता नहीं राजनीति नीति के माने राजनीति जो राजा के सिद्धांत है कैसे राज्य चलाया जाता है तो उसने शिक्षा पाई होगी वही राज्य चलाता है नहीं तो राजा के हजार शत्रु होते हैं और जहाँ देखेंगे कि राजा यहाँ कमजोर पड़ रहा है बस वहीं दूसरे लोग उसको राजा को दबा लेंगे उसका राज्य छीन लेंगे राज की राय राज की राय नीति बिना जाने नीति के बिना राज्य नहीं रह सकता राज्य के माने पुराने जमाने के राज्य नहीं आजकल के भी आजकल के भी व्यक्ति अगर कोई नेता हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया चीफ मिनिस्टर हो गया इस प्रकार का हो जाए लेकिन अगर उसे मालूम नहीं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए कैसे रहना चाहिए तो चल नहीं सकता ज्यादा बस वो खड़े होंगे उनके पर दूसरा इसको कब्जा जमा लेगा कहते हैं राज के रहे नीत तो बिन जाने अग की रहे हरिचरित बखाने और कहते हैं हरिचरित बखाने बिना आगे की रहे अगर भगवान के कर्म भगवान के गुणान बाद गाते रहो तो पाप नहीं रह सकते पाप नष्ट हो जाते हैं आगे की रहे मैंने अगवन पाप पाप पाप फिर कैसे रह जाएंगे हरिचरित बखाने जो भगवान के चरित्र का वर्णन करे इसके मैंने पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सुंदर उपाय है भगवान की कथा सुनाते रहो भगवान की गुणान बात गाते रहो भगवान की जय जयकार बोलते रहो हम्म, उनकी कथा सुनाते रहो तो पापों से जितने संचित पाप है वो दूर हो जाएंगे और फिर भगवान उसको पाप में समृद्ध भी नहीं होने देगा नए पाप भी नहीं करेगा पुराने पाप धीरे धीरे उसके नष्ट हो जाएंगे और नए पाप वो करेगा नहीं सन्मार्ग पर चलेगा धर्म के मार्ग पर चलेगा और पापों से छूट जाएगा तो क्या फायदा होगा हाँ? पापों से छूट गया एक तो से बड़ा कोई लाभ नहीं सबसे बड़ा लाभ ये भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया मैंने मुक्ति भी प्राप्त हो गई आनंद भी प्राप्त हो गया संतोष भी प्राप्त हो गया तृप्ति भी प्राप्त हो गई जितने विकास हैं काम क्रोधात उनसे भी छुटकारा हो गया भगवान की भक्ति की महिमा ये जिसके भगवान की भक्ति आ गई तो उसके हृदय में काम क्रोधात नहीं रह सकते और जय गांव में सुख संत पढ़ाना इसलिए सुख संत लोग हैं भक्ति की बड़ी महिमा जाते रहते हैं उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि भक्ति सबसे बड़ा लाभ है भक्ति प्राप्त हो गई तो सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है हानि की जमी हुई संकट भाई भगवी न राम नर पाई सबसे बड़ा हानि क्या है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और भगवान को नहीं दिया व्यक्ति समय नष्ट कर दिया शरीर की बातों में समय अपना नष्ट करते हैं शरीर के कामों में अपना समय नष्ट करते हैं ये लोग अपराधी हैं सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं अपने इससे बड़ी हानि क्या कि मैंने शरीर प्राप्त हुआ भगवान को भजने नहीं किया कोई आध्यात्मिक ही नहीं न धर्म के मार्ग पर चले न परमार्थ भी किया कुछ किया सबसे बड़ी हानि सबसे होती है योगी उपनिषदों का वचन है उसमें भी इस प्रकार से जैसे तेनोपनिषद में सबसे अंत में आता है इसी प्रकार से तेज वेदिक सत्यमस्ती न महाते बनती है अगर एक को नहीं जाना तत्व को तो फिर सबसे बड़ी हानि होगी महात्मी बनती तो कहते हैं अरे की का सम कछुआना तो और कहते सबसे बड़ा बात क्या है किस्मता किस्मता के मतलब चुगली करना किसी पीछे निंदा करना इससे बात कोई पाप अरे की का सम कछुआना तो धर्म की दया सरे से हरी जाना सबसे बड़ा धर्म क्या है हे हरियाणा संबोधन उनके लिए गरुड़ के लिए ये सबसे बड़ा धर्म क्या है तो दया सबसे बड़ा हित करो से धर्म नहीं भाई दूसरे का हित करो दूसरे पर दया करो दूसरे की निंदा करना झगड़ा करना ये तो अनजाने व्यक्तियों हैं काम ये देखो कि दूसरे लोगों में दोष है कन्या है दुर्गुण है दुर्बलताएं हैं तो उनके ऊपर दया करो ये धर्म दूसरों के दुर्गुणों को लेकर के उनका भक्षण करते हुए उनको प्रबंधा करते उन्होंने ये कोई दया थोड़ा ये तो अपराध इसलिए शास्त्र को न देखो तो पता नहीं चलता क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या पुण्य है और क्या पाप है देखो दृष्टि खुलती तो है धर्म किसे कहेंगे जब दूसरे लोगों पर दया था और दया किसी व्यक्ति पर कब करेंगे अरे कोई व्यक्ति दया का पात्र होगा तब तो दया करेंगे तो दया का पात्र कब होगा जब दुर्बल होगा अज्ञानी होगा ना समझ होगा कोई कमियां होंगी उसमें तब तो उसको वो दया करो व्यक्ति अपने हमसे ज्यादा कोई ज्ञानमान समर्थ है उसके ऊपर क्या दया करेंगे हम तो उससे दया मांगेंगे जो भगवान हमारे ऊपर भी दया करो आप तो ज्ञानवान हो महान इसलिए कभी धार्मिक दया करे से हर जाना और यही यदि अमित जुगति मन हूँ इस प्रकार जो है इसलिए कितनी इस प्रकार की युक्तियाँ अपने मन में बार बार सोचते थे उन्होंने जो कुछ रखी होंगी पहले से और जो अभ्यास कर रखा होगा वो अपने मन में सोचते जाते थे बार बार बार बार उसी प्रकार से सोचते रहते तो मूल्य उपदेश में सादर सुनो बस बता दिया कि बस ये सब बातें जो सोच रहा है और मिल अपना उपदेश देखने जा रहे हैं लोगों पर मोटा तो क्या हमने फिर उसको आदर पूर्वक सुना नहीं हमने विरोध नहीं किया तो उनके सामने अपने कानों में नियम लगा लिया विरोध नहीं लगाई लेकिन अपने मन मन में हम कुछ दूसरे ही सोचते रहते हैं उनकी बात को सुनेंगे पुण्य पुण्य सगुन पक्ष में रोका तो कहते हैं इस प्रकार आते जब वो रह सकते थे कुछ साथ लेने लगते थे रुकते थे तो फिर अपनी सगुन की बात हम बोलने लगते थे कभी भगवान जी तो आपने खूब अच्छा बताया कि परम परमात्मा सर्वदा पर तैनात अनंत है बहुत सुंदर बात है लेकिन भगवान सगुण रूप जब धारण करते हैं तो कितने सुंदर होते हैं देखो वैसी सुंदरता अगर देखने को मिले किसी के जीवन सार्थक हो जाए भगवान तो ऐसा सुंदर स्वरूप उनका गति रूप चंचला का स्वरूप कृपा भगवान भगवान ऐसा सुंदर रूप आपका जब ये बोलते होंगे तब उनको लेने से उसको लगता होगा देखो ये सुंदर रूप सुंदर रूप के पीछे हम कहते हैं परमात्मा के न रूप है ना नाम है अरे सुंदर रूप सुंदर रूप कहते पुनः पुनः सगुन पक्ष में रोका तब मन बोले वचन सकोपा तब वो क्रोध करके जो बार बार वही बात आई तब उन्होंने लोम श्रेष ने क्रोध करके इनसे क्या कह दिया कि मूल परम सिख देव न मानस हे मूर्ख इतनी सुंदर शिक्षा हम तुमको दे रहे हैं भगा उसे भी कोई बड़ी बात है कि सर्वोपरि ब्रह्म है और आत्मा ब्रह्म एक ही है और उस भाव को प्राप्त करके व्यक्ति प्राप्त कर तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है इससे बड़ी कोई बात नहीं और तुमको वो बात सुन सकते हम्म? जो काम दे रहे हैं जो हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं उसको तुम सुनते रहे और उत्तर प्रति उत्तर बहु आने से और बार बार तक तक तुम हमारे हाथ में करते हो जो हम कहते हैं उसको सुनते नहीं बात सत्य बचे विश्वास न करेगी और देखो बिल्कुल हम सत्य बात कह रहे हैं हम शुभ प्रमाण से बोल रहे हैं उपनिषद में बता रहे हैं तुमको और फिर भी तुम सत्य बात को भी सुनते हो स्वीकार नहीं करते हो तुम ऐसे करके वो क्रोध कर रहे और पाए थे सब ही पे डर ही और कहा तुम कबियों की तरह से सत्य करते हो बाइक कौआ तो अब कौआ को क्या है कौआ अगर लेकर के किसी को रोटी को टुकड़ा भी कौए के सामने फेंके तो कौआ क्या समझेगा कि मारा पत्थर इसमें और भाग जाएगा वो रोटी को टुकड़ा नहीं खाएगा वैसे ढूंढता ढूंढता करेगा खाने के लिए कहीं तो जाए लेकिन अगर रोटी का टुकड़ा कभी कौए को देकर करके देखो खा गया क्यों जो उसको कौए को खिलाने के लिए तत्पर उसको भी रखो ऐसा ही कहते हैं कि बाइक ये सब ही पे करेगी तो सड़क पक्ष तब हृदय निकाला सड़क पक्ष तब तुमको हृदय तुमको अपने पक्ष ही को सबसे हृदय में सबसे बड़ा तुम्हें दिखाई देता है बड़ा सबसे बड़ा दिखाई देता तुम्हें दिखाई देता जो हम समझते हैं जो हमारे मन में बात हो गई थी बस चाहे जिन ज्ञान की बातें कहो जितनी परमात्मा की बातें कहो तुम उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं करते तो बिल्कुल तुम चांदाल पक्षी कौए की तरह से हो इसलिए शपथ हो पक्षी चंदाला इसलिए वही चंदाल पक्षी शपथ मतलब शीघ्र हो जाओ मान ये नहीं तो तुम शरीर को छोड़ो तो कभी पक्षी हो अभी हो जाओ तीन साप में तीस कराई तो कहा तीस चढ़ाकर भी लिया मैंने उन्होंने जो साप दिया कि तो जैसे कोई प्रधान से कार्य करता है आशीर्वाद स्वीकार करता है ऐसे हमने वो उनका वो साप हमने श्रोधारी किया श्रोधारी किया कि मैंने हम तुरंत कब्जा बन गए आपने हमको साथ दे दिया कब्जे बनने के तो कब्जा थे कब्जा बन गए और नहीं तो भाई नदी में तारी तो मुख्य बात तो ये देखो न तो ये लगे कौवा होगा तो कौवा को जब चंदा पक्षी होगा तो दीनता आ जानी चाहिए कहाँ दिक्कत है या कौवा रह गए तो दीनता आ जाती ये भी नहीं हुआ और भय भी नहीं लगा क्या कौवा हो गया अब तो हम कुछ कर नहीं सकते अब तो हम भगवान का भजन भी नहीं कर सकेंगे अब हमारा क्या होगा अब हमारी दुर्गत हो गई तो ये भी कोई भय ही नहीं इसका तो कहते ना हमको भय लगा और न कोई हमें चिंता लगी और हमने उनका उनका साफ हमने अपने सुरुधार कर लिया कौवा हो गए तुरंत नहीं हूँ मैं काल अब उन्होंने कहा शपथ हो हमने तुरंत नहीं हूँ तब काल मैं उसी तरह कौआ हो गया और पुनः पर शरण आए और उसके बाद हमने उनका अपना अब तो रही है सही था तो सिर्फ उनके चरणों में झुका दिया प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके क्या किया सुमित राम रघुवंश में मैंने हर्षित चने उड़ा है बस अपने हृदय में भगवान राम का स्मरण किया और उड़ चले और उसे जाकर के पेड़ की तरफ चल दिया उतर क्या पक्षी होकर तो वही उतर के बैठे अब उड़ेंगे तो इधर वाला चल जाते उड़ चले फिर वहां से ऐसे घड़िए हो काव्य सुंदर ऐसे कब्जा बन उनके साथ से लेकिन एक बात जो इसमें विशेष रूप से काव्य सिंह जी ने दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति होगी उसमें भय नहीं होगा चिंता नहीं हो क्रोध भी नहीं आया लोगों से उसको क्रोध आ गया लेकिन इनको क्रोध नहीं आया विप्र रूप में काभूषण भैष्णवाता खो गई और लोगों से इसने क्रोध नहीं किया लेकिन इनको देखो ये क्रोध इन्होंने नहीं किया उन्होंने ऐसा नहीं रखा तो मैं हमको कबे होने का साथ देगा हम भी इनको साथ दे देंगे ऐसे कुछ नहीं हम्म? उन्होंने न चिंता आई न भय लगा और चुपचाप कौवा हो गए और भगवान का तो ही सही उसने क्या लेकिन उनका कौवे साथ दे दिया तो वही सही भगवान की होती ही क्या चलो तो भगवान का स्मरण करते हुए बस अपने कौवे सही भी कर दिए अब इतना तो शंकर जी का भगवान खाए कि तुम किसी भी दिन ज्ञान भूलोगे नहीं तब ज्ञान कैसे तो भूल गया कौवा होगा तो कौवे भी याद रहेगा भगवान का स्मरण रहेगा उनका चिंतन करते रहेंगे वो याद रहेंगे और अध्यात्म तो है सो है ही को प्राप्त मन जहाँ चाहो वहाँ चलेगा इसलिए वहाँ पर तो जाने में भी कोई बाधा नहीं जहाँ करेगा चलेगा बदाम का काम करना शुरू कर देगा और लोगों से साथ भी आ गया दोनों साथ साथ काम करेंगे अब जो कुशागति होती है उसके बाद कहते हैं उमा जो राम चरण रत अब ये सिद्धांत बताते हैं कि शंकर जी अब शुद्ध आत्मा है और शंकर जी कहते हैं कि देखो पाप विष्णु जी ने कोई ऐसा किया है तो कहते हैं ऐसा कैसे किया मैंने पार्वती ने पूछा हो तो भाई इनको कालभूषण को इनको क्रोध क्यों नहीं आया यदि कवे हो गए तो इन्होंने कैसे इसे कर लिया तो वो कहते हैं कि उमा जो राम कलारत हे पार्वती जी भगवान के चरणों में जिनका प्रेम भक्ति होती है विगत काम मत क्रोध उनमें काम क्रोध मत ये नहीं होते मत से तात्पर्य अहंकार जो भगवान का भक्त है न उसे अहंकार होगा न वो कामना उसमें होगी न उसे क्रोध होगा संस्कार क्रोध रही शांत अभिमान रहित ये हो जाएगी भक्ति का फल है जहाँ भगवान की भक्ति है काम में विकास नहीं है सकते काम को मत को मत मत कर ईशा देश पंचाखंडाल जो दोष है मानसिक दोष भक्तों के हृदय में नहीं रह सकते अगर दोष है तो फिर भक्ति नहीं आ सकती दोष है तो दोष रहेगा जैसी जैसी भगवान की भक्ति करेगा वो लेकिन भक्ति नहीं आ सकती उसको और निजी प्रभु नहीं देख जगत जगह बैठे कम करें विरोध और इनका किसी से विरोध भी नहीं होता जब किसी से कोई विरोध नहीं तो क्रोध कैसे हो क्रोध तो तभी होगा जब विरोध हो है और विरोध क्यों नहीं होगा भक्तों को विरोध क्यों नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि सारा जगत परमात्मा का ही ये निजी प्रभु नहीं देख जगत समस्त जगत को